आप कह दें कि फिर तुम ही अल्लाह ताला की जनाब से कोई किताब लाओ जो हिदायत में इन दोनों ही से बेहतर हो मैं उसकी पैरवी करूंगा अगर तुम वाकई सच्चे हो